एस सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया या सूक्ष्मदर्शी भी पुरुषोदरादि गण में पठित होने से वर्ण का विकार हुआ गूढ़ आत्मा अ को आ हो गया गूढ़ आत्मा यस्य स गूढ़ आत्मा आकार को उकार हो गया उकार होने से गुण हो गया इसमें अवग्रह से दिया है आत्मा है करके नहीं तो आकार को उकार हो गया भवेद वर्णागमा हंस सिंहो वर्ण विपर्यात गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेर वर्णनाशात पुरुषोधरम हस धातु से पश्च नंदी गही प्रचादि हो लुणिन अच अच हो तो यहाँ वर्णागमा हंस अनुसार का आगम हो गया हंस बन गया हस होना चाहिए तो हस धातु से अच कर्ण से अनुसार आगम वर्ण भवेद वर्णागमाद हंस सिंहो वर्ण विपर्यात हिसी हिंसायाम धातु है हिसी हिंसायाम से नु हो तो हिंसा बनता है अच करते हिंसा होगा किंतु वर्ण विपर्य हो गया हिंसा में प्रथम वर्ण ह आगे है ई के बाद स है तो स पहला आ गया बाद में हो गया सिंह बन गया धातु हिसी हिंसायाम हिंसा होना चाहिए किंतु सिंह हो गया वर्ण विपर्यात वर्ण का विपर्य आगे पीछे हो गया सिंह वर्ण विपर्यात और गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेर गूढ़ आत्मा यस्य गूढ़ आ आत्मा में आकार को उ हो गया तो गूढ़ोत्मा वर्ण का विकार होने से वर्णनाशात पुरुषोदरम पृषद उदाहरण प्रसाद में द के नाश हो गया पुरुष के अगुदर पुरुषोदर मनी गया पुरुषोदर आदि यथोपदिष्टम ऐसे पुरुषोदर आदि गण में से आया गुढ आत्मा में आक वो हो गया तो गूढ़ आत्मा ये ऐसे जो आत्मा स्वरूप गुढ़ है सर्वभूतेषु गुढ़ है उसका स्वरूप न प्रकाशते प्रकाश में नहीं आता है तो भी दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया अग्र तीक्ष्ण बुद्धि से ज्ञात होता है सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से तीक्ष्ण हो और अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को विषय करने वाले भी हो ऐसा पुरुष भाष्य में प्रत्ययात्मत्वम दर्शयति सर्व ऐसा पुरुष यहाँ से चलेगा टीका में पारैष्णव अच्छा ये दिया अनध्वगा अध्वसु पारैष्णव संसार पारम गंतार मार्ग रहित है संसार पार जाने वाले न प्रकाशते चेत तरी नास्ते वैति न वाच्यम लिंग दर्शनातिथ्य न प्रकाश चेत नास्त्यव यदि से दिखता नहीं है तो है ही नहीं जैसे बंध्या पुत्र सशिक्षण सशिक्षण किसने देखा नहीं हो तो है ही नहीं असत्य है तो इसे प्रकाश न प्रकाशते मतलब इसे ब्रह्म को है ही नहीं इति न वाच्यम लिंग दर्शनात इतिहा लिंग ज्ञापक है प्रत्यक्ष नहीं दिखने पर भी ज्ञापक से हेतु से साध्य निश्चय होता अनुमान प्रमाण से अशुद्धि प्रमाण तो यही दर्शन श्रवणादिनी कर्माणि अस्य इति तथोक्त दर्शन श्रवणादि इसका कर्म है ये दर्शन इंद्रिय मन बुद्धि पर दर्शन श्रवणादि इसका भाष्य में कुछ है क्या दर्शन श्रवण आगे है भाष्य में पहले एस पुरुष सर्वेशु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु गूढ़ संवृत दर्शन श्रवणादि कर्म अविद्या माया छन्न अतएव आत्मा न प्रकाशत आत्मत्वेन कस्यचित यह पुरुष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ ब्रह्मादि स्तंभ सु ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ त्रिन तक सर्वत्र गूढ़ समृद्ध छिपा हुआ है तो फिर कैसे निश्चय होता है करके दर्शन श्रवणादि कर्मा दर्शन श्रवणादि नि कर्माणि यस्य ये दर्शन श्रवणादि कर्मा अविद्या माया छन्न अविद्या ही माया उसे ढका गया अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित इसलिए आत्मा कस्यचित आत्मत्वेन न प्रकाशते कि आत्मत्व आत्मत्वेन प्रकाश नहीं में नहीं आता है भान नहीं होता है टीका में दर्शन श्रवणादिनी कर्माणि अस्य इति दर्शन श्रवणादि कर्मा दर्शन श्रवणादि उसका कर्म है ये दर्शन श्रवणादि चक्षु से दर्शन श्रोत्र श्रवण होता है तो जन ज्ञान होता है और इस चक्षु करण है तो उसका कोई कर्ता होगा इससे निश्चय होता है जीवस्य प्रकाशत्वे ब्रह्मत्वत्वे सत्यपि योयम ब्रह्मस्वरूपतान ब्रह्मस्वरूपान भास स केनापि प्रतिबंधेन कृतयति कल्प्यते जीव स्वयं प्रकाश रूप है ब्रह्म स्वरूप है ऐसा होने पर भी योयम ब्रह्म स्वरूप अनभास ब्रह्म स्वरूप का भान नहीं होता है स केनापि प्रतिबंधेन कृत किसी प्रतिबंध से हुआ ये कल्पना होती स्वरूप होने पर भी भान नहीं होता है तच्च प्रतिबंधकम न वस्तु वस्तु प्रतिबंधक वास्तव होगा तो ज्ञान से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है ज्ञानांद मुक्ति श्रुतिर प्रसंग प्रसंगाद वास्तव कोई यदि प्रतिबंधक है दीवाल आदि कोई ढकने वाला है ज्ञान हो गया दीवाल ढका हुआ तो दिखता नहीं तो फिर वस्तु अंदर है तो दिखेगी ज्ञान हो गया दीवाल के कारण दिखती नहीं बाहर अंदर वस्तु कोई है ऐसा ज्ञान होने के बाद वस्तु दिख जाएगी अब दीवाल है तो दिखेगी कैसे वास्तव यदि प्रतिबंधक कोई हो चंद्रकांत मणि रखने से अग्नि से दाह नहीं होता है यदि आपको मालूम हो गया चंद्रकांत मणि का दाह नहीं होता है तो दाह हो जाएगा प्रतिबंधक जवते दाह नहीं होगा स्फटिक के पास जपा कुसुम है स्फटिक लाल दिखता है मैं आपको मालूम हो गया ये पुष्प के कारण लाल दिखता है तो उसके बाद लाल दिखेगा सफेद दिखेगा स्फटिक लाल दिखेगा जब तक पुष्प है लाल दिखेगा ज्ञान होने मात्र से उसकी निवृत्ति नहीं होती यदि प्रतिबंधक वस्तु हो ज्ञानात मुक्ति सूत्र बाध प्रसंग ज्ञानादय ही कैवल्यम ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम विधि ज्ञान से मुक्ति श्रुति का बाध हो जाएगा यदि प्रतिबंधक वास्तव हो तो ततो अविद्येव प्रतिबंधिका इत्याह इसलिए अविद्या ही प्रतिबंधिका है अविद्या माया चन अविद्या ही माया उसे ढका गया है अविद्या माया चन अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मतन कसे जी अहो अति गंभीरा दुरवगाहा विचित्र माया अचयम यदयम सर्व जंतु परमार्थतः परमार्थ सतत्वप्येवं बुद्धिमानो अहम परमात्मेति न गृह्णाति अनात्मान देहेन्द्रियादि संघातम आत्मनो दृश्यमानम वै घटादिवत आत्मतेन अहम अमुष्य पुत्र इति अनुच्यमानोपि गृह्णाति नूनं परस्यव माया मुमुयमान सर्वलोक बम्भ्रमीति अहो अति गंभीरा दुर्वगा है विचित्र माया ये जो माया है अति गंभीर है दुर्वगाया उसका अवगाहन उसको जानना बड़ा कठिन है माया को जानने के लिए क्या माया है अविद्या को जानने के लिए नारद आदि को जानने की इच्छा ही तो भगवान ने दिखा दिया देखो क्या से लेकर कहाँ पहुंच जाते हैं इसको जानना कठिन है अविद्या माया क्या है जानने का नहीं उसका उसकी निवृत्ति कैसे होगी ये सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उसका निर्वचन नहीं हो पाता है किंतु अनादिकाल से है और ये माया तत्व है आत्म तत्व को ढक करके सारा प्रपंच दिखाती है दुर्वगाह अति गंभीर है विचित्र है माया विलक्षण है विचित्र है शुद्ध निर्विशेष चैतन्य में ये प्रपंच कैसे दिखा देती है माया से यम यदयम सर्वो जंतु परमार्थत परमार्थत सतत्व भी सब जीवत वास्तव परमार्थ सतत्व पारमार्थिक स्वरूप आत्म स्वरूप है प्रतिबिंब दिखता है दर्पण में वास्तव स्वरूप बिंब है और एवं बुद्धिमान ऐसे कहा जाता है कि तुम ब्रह्म हो जीव नहीं हो तुम देहादि नहीं हो देह ऐसे जितने कहने पर भी अहम परमात्मे ते न गृणाति मैं परमात्मा शुद्ध चेतन ब्रह्म में हूं ऐसा नहीं समझता है नहीं ग्रहण करता है और अनात्मा को देहादि को मैं मानता है अनात्मानम देह इंद्रियादि संघातम देह इंद्रियादि समुदाय अनात्मा जड़ है आत्मन दृश्यमानम अपि स्वयं देखता है देहा को जो देखता है घटपट आदि अपने से भिन्न को देखता है देहेंद्र संघात भी अपना दृश्य है जो दिखता है ज्ञाय ज्ञेय पदार्थ है जड़ है उसको घटाधिपत आत्मत्वेन ग्रहण करता है घट को देखता है घट मेरे से भिन्न घट को देखता है जिस प्रकार घट भिन्न है इस प्रकार देह इंद्रियादि संघात को जानते हैं आप तो इंद्रियादि संघात आपसे भिन्न है आ घट आदि के समान कोई घट मकान को कहे मैं मकान में रहने वाला घड़ा को कहे मैं हूँ कितने अज्ञान है घट दृश्य है दृश्य घट को आत्मत्वन जिस घट को आत्मत्वन मानना बिल्कुल मूर्खता है देह आदि संघात को देखता है जानता है मेरा तो जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ जो दृश्य है दृग रूप चेतन से मैं मेरे से भिन्न जड़ में नहीं हूँ सबको मालूम है तो भी आत्मतन देहादि को ग्रहण करता है अहम अमुस्य पुत्र इत अनुच्य मानवपि गृहणाति कोई देह तुम है यह तुम्हें वह नहीं बताने पर भी देखता मैं मनुष्य हूँ हम उसका पुत्र हूँ इसका ये मनुष्य हो इसे हो इतने बड़ा हम छोटा नहीं कहने पर भी इसको अनात्मा में अहम बुद्धि करता है वो कहने पर बार-बार आत्म चैतन्य तुम हो सर्वव्यापक चेतन आत्मा ग्रहण नहीं करता है यही माया का प्रभाव है ये अति गंभीर माया दुर्भगा है विचित्र है माया ऐसे जो वास्तव स्वरूप उसको ढा करके माया आश्रित है ब्रह्म में उसमें आश्रित हो करके उसको ढा करके उसमें दूसरा दिखा देती है नूनम परस्यव माया मुमुयमान सर्वलोक बम भ्रमिति नूनम अवश्य ही परब्रह्म की माया से मुमुयमान भृषम मुयमान मोह को प्राप्त करते हुए सर्वलोक बम भ्रमिति ब्रेसम भ्रमिति भ्रमण करता है अनादिकाल से भटक रहा है तथा च स्मरणम नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत इत्यादि योगमाया से ढका गया सर्वस्य प्रकाश न भवामी भगवान कहते गीता में नन विरुद्धमिदमुच्यते मत्वाधीरो न शोचती न प्रकाशति इति च मत्वाधीर न सच विज्ञान होने पर शोक को पार कर लेता है शोक नहीं करता है संसार शोक को पार कर लेता है इधर कहते न प्रकाशते न प्रकाशते तो ज्ञान के मुख्य ज्ञान के बिना नहीं होगा और अप्रमेय उप्रमेय नहीं होता है ज्ञेय नहीं होता है ज्ञान नहीं होगा तो फिर ज्ञान से मोक्ष कैसे होगा ये तो परस्पर विरुद्धम इति च नैतदेवम असंस्कृत बुद्धेर अविज्ञत्वात् न प्रकाशते तुक्तम जो न प्रकाशते कहा गया किसके लिए असंस्कृत बुद्धे असंस्कृता बुद्धिस्य जिसकी बुद्धि संस्कृत शुद्ध नहीं हुई अंतकण की शुद्धि नहीं हुई उसका अभिज्ञ है ब्रह्म ये विज्ञ नहीं हो सकता है जितने श्रवण भी करे अन्य साधन करे बुद्धि शुद्धि के बिना बुद्धि शुद्धि भी होनी चाहिए बुद्धि में अशुद्धि रखे दुर्गुणों को बना रखे टेढ़ापन मिथ्या असदाचरण करते रहे और बाकी साधन करे बड़े बैठे करे बड़े अनुष्ठान करे ये सब जितने भी अनुष्ठान करे बुद्धि शुद्धि के बिना नहीं बुद्धि शुद्धि के लिए ही सब अनुष्ठान है सारे साधन अंतकण शुद्धि के लिए अंतकण में जो अशुद्धि है जिसको जानते हैं मिथ्या कपटाचरण उसको छोड़ना चाहिए असंस्कृत बुद्धिर अभिज्ञत्वात् तो न प्रकाशते कहा दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया दृश्यते तो संस्कृतया अग्रया अग्रे अग्रमेव अग्रिया तया एकाग्रतया उपतया इति एतत् सूक्ष्मया सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया अग्रादियत अग्रादियत से अग्रिय बनता है स्त्रीलिंग में अग्रिया घसौच अग्रिय अग्रिय से बनता है अग्रादिय तो अग्रिय अग्र अग्रम इव अग्र्य अग्र जैसे अग्रिया हो गया अग्र तीक्ष्ण तो एकाग्रतया एकाग्र बुद्धि से एकाग्रता से युक्त इत सूक्ष्म या सूक्ष्म बुद्धि से अग्र कहने के भी सूक्ष्म का क्या अर्थ सूक्ष्म वस्तु निरूपण या सूक्ष्म वस्तु निरूपण करने में सामर्थ्य हो और तीक्ष्ण हो संस्कृत बुद्धि शुद्ध बुद्धि से प्रकाशित है जाना जाता है कई ही सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म वस्तु को दृष्टम शीलम येषाम ते सूक्ष्मदर्शी न सूक्ष्मदर्शी भी इंद्रियभ्य पराह अर्था कह करके अंत में जो कहा गया परंपरा और सूक्ष्म और सूक्ष्म इसी प्रकार इत्यादि प्रकार सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शन न परम सूक्ष्म द्रष्टुम शीलम येषाम ते सूक्ष्मदर्शी न अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को जानना जिनका स्वभाव है वो सूक्ष्म न सूक्ष्म कैसे इंद्र से पर अर्थ अर्थ से पर है मन मन से सूक्ष्म है बुद्धि बुद्धि से सूक्ष्म है महतत्व हिरण्यगर्भ से सूक्ष्म है अव्यक्त उससे सूक्ष्म है आत्मतत्व पुरुष इसी का क्रम से परंपरा से सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शन न परंपरा से परम सूक्ष्म तत्व को दर्शन करना जानना जिनका स्वभाव है ये स्वभाव हो जाता है साधना करते करते वही देखना बाह्य संसार में बाह्य प्रपंच में रुचि नहीं लेकर के निरंतर सदसद विव करके उसके अंदर उसके अंदर पांच कोष है अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनंदमय कोष का स्वरूप चिंतन कर उससे अलग है यही तत्वबोध में बताया एतत् पंच कोश पंचकम च मदियम शरीरम मध्य मध्य प्राण मध्यम इंद्रियम मध्य मनो मध्य बुद्धि मध्य अज्ञान मध्य मध्य मेरे मेरे इस जाने जाते हैं जैसे कटक कुंडल गृहादिकम मेरे मेरे मेरे मध्यत्वेन ज्ञात आत्मा नहीं होता है इसी प्रकार पंच कोश मेरे मेरे मध्यत्वेन ज्ञात होने से आत्मा नहीं है जागर स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था से विलक्षण तीनों को जानने वाला स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग इसी प्रकार बार-बार विचार करना यही जो करते रहते उनका स्वभाव है सदसद विवेक करते उनको ही ज्ञान होगा सूक्ष्मदर्शी भी द्रष्टुनशीलम येषाम जिनका स्वभाव वही विचार निरंतर सदसद विवेक नहीं कि थोड़ा पढ़ते समय रटला बाकी सारा संसार प्रपंच में चला दिन रात उसी के बाहर व्यर्थ चिंतन व्यर्थ वार्तालाप करने लगा वो नहीं निरंतर वही चिंतन पढ़ते सुनते समय ही बैठकर चिंतन करते बाहर भी गए तो ही चिंतन तत् तत् कथनम अन्योन्यम प्रबोधनम निरंतर उसी का ही चिंतन होना चाहिए थोड़े समय ध्यान करते समय बैठकर थोड़ा कर लिया बाकी इधर-उधर भटका राग द्वेष इधर-उधर करने लगा गलत मार्ग में चला तो अंतकरण शुद्ध कैसे होगा स्वाभाविक से हो जाए निरंतर वही करना पड़ा निरंतर ही करते करते अभ्यास हो जाता है तो सूक्ष्म दृष्टम शीलम ये सब जिनका स्वभाव है तत्चाल ताच्चल्य में होता है नहीं सूक्ष्मदर्शी न उसका स्वभाव ते ही सूक्ष्मदर्शी भी पंडित देते हुई पंडित है निरंतर सूक्ष्म तत् सत असत विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा कहेगी पंडा संजाता सदि पंडित सत असत विवेचन करने वाली बुद्धि निरंतर सत क्या असत किया है नासत विद्यते भाव नाभाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं होता है असत वस्तु है ही नहीं ऐसा करे जिसका अभाव कभी कहीं होता है वो सत नहीं है मिथ्या है ऐसे बीच विवेचन बार-बार करते रहे तो मिथ्या वस्तु में आसक्ति थोड़ी-थोड़ी कम होती है वैराग्य बढ़े ये अभ्यास करते करते निरंतर करने पर उनका ही उनको ज्ञान हो सकता है बुद्धि की सूक्ष्मता होने पर तीक्ष्ण होने पर सूक्ष्म दर्शन सत सद विवेचन करने पर उनको ज्ञान होता है ठीक है हमें निदिध्यासन प्रचयन एकाग्र्यम आपन्नम अंतकरणम यदा सहकार्य संपाद्यते निदिध्यासन प्रचयन बार बार निदिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह श्रवण मनन करने पर संशय तो दूर हो जाएगा किंतु देहाद में विपरीत भावना आए मैं मनुष्य हूँ हम पश्यामि हम सोचामि हम निचनमि सब देह इंद्र मन बुद्धि में अहम बुद्धि है अहम ऐसा तादात्म्य अध्यास है बार बार मैं देह इंद्र नहीं हूँ इससे विलक्षण दृग रूप चेतन हूँ बार बार ऐसा विचार करने पर ब्रह्माकार वृत्ति बार बार प्रचय होने पर एकाग्रम अपन अंतकरण अंतकरण एकाग्रता को प्राप्त करता है एकाग्र हो जाता है तो फिर आत्मतत्व मन कृत्वा मन को आत्मसंस्त मन कृत्वा आत्मा में स्थिर करके न किंचित अभिचिंत है बिल्कुल आत्मचिंतन ऐसा करने पर अंतकरण सहकारी हो जाता है यदा सहकारी संपाद्यते अंतकोण सहकारी तब होता है मन तो अंतकोण सबके पास है वो अंतकोण सहकार नहीं होता है अंतकोण तो नरक लेने के लिए भी सहकारी हो जाता है वह अंतकोण जो तीक्ष्ण होता है निधिध्यासन बार-बार करके आत्मा में लगाते हैं पहले ध्यान करके एकाग्रता करने का अभ्यास होता है धारणा ध्यान एकाग्र करने का सामर्थ्य होने के बाद इतने केवल नहीं वेदांत श्रवण मनन से भी आत्म तत्व चिंतन पहले तो ध्यान करते हैं उतने ध्यान मात्र कोई सब कुछ मान करके बैठ गए तो नहीं होगा खाली कर दिमाग बैठ जाते हैं बहुत देर तक बैठ गए जगने के बाद फिर जैसा कोई चाहे उतने इतने मात्र से नहीं हो तो पहले थोड़ा एकाग्र करने के लिए आवश्यक है फिर शुद्ध होता अंतकण तो जिज्ञासा होती है जिज्ञासा होने पर श्रवण मनन करता है श्रवण मनन करने पर संशय दूर होता है तब कभी-कभी निश्चय हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म नहीं श्रवण करके कुछ नहीं समझ करके रटने के कहे तो बच्चा भी कह दे हम हाँ, असीम परम ब्रह्म किंतु ऐसा नहीं श्रवण मनन करने पर अपने आप निश्चय हो जाए वो निश्चय ही वृत्ति है निश्चय ज्ञान है सामने घट देखते तो घट है खाते गुड़ खाते मीठा लगता है मधुर है नमक है तो नमक लगा नीमक है तो कड़वा वो जो ज्ञान होता है कोई सिखाना नहीं पड़ता है ये घट मालूम हो गया तो देखते ही कहीं घट है ये जो निश्चय होता है घट है अन्य नहीं है ऐसा जो निश्चयात्मिक वृत्ति है मैं देहादि नहीं हूं रूप चेतन ब्रह्म हूं इसी प्रकार जो निश्चय है निश्चय निश्चय बुद्धि खाली शब्द से नहीं कह देने से नहीं होगा कोई खटा नेमु की रेमु खिलाए बोलो बहुत मीठा बहुत मीठा बच्चा कहता बहुत मीठा औषध खिलाते हैं कड़वी दवाई बहुत मीठा बहुत मीठा थू थू कर फेंकता है कहता है बहुत मीठा बोलो बहुत मीठा बोला बहुत मीठा किंतु फेंकता है ये नहीं यदि मीठा लगता है तो उससे कुछ भी सिखा मना करो तो तो कहे मीठा फेंकने का तो फेंक दिया किंतु कहेगा मीठा वास्तव मीठा है तो मीठा कटा है तो कटा है ये निश्चयात्मक बुद्धि देहादि में नहीं हूं ये निश्चय निश्चयात्मक बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति उसका प्रभाव बार-बार करने पर उससे एकाग्रता होती अंतकरण में वो सहकारी हो जाता है अंतकरण तथा तो महावाक्याद केवल ध्यान से ज्ञान नहीं हो जाएगा कोई कोई मिलते कहते हैं ध्यान से बढ़कर और दूसरा क्या साधन है ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करने से मन एकाग्र होगा ठीक है फिर आगे किसका ध्यान करना है कैसे ध्यान करना है ठीक है यदि सगुण का ध्यान करते ध्यान करे कोई बात नहीं ध्यान करे किंतु ज्ञान होने के लिए प्रमाण से ज्ञान होगा प्रमाण होता है यहाँ श्रुति प्रमाण वेदांत प्रमाण प्रमाण में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आदि प्रमाण होता है ध्यान से ज्ञान नहीं होगा ध्यान तो केवल बुद्धि एकाग्र करने के लिए मन को लगाने के लिए प्रत्येकतानता ध्यानम किंतु प्रमाण से ज्ञान होगा अंतकण सहकार्य सूक्ष्म अंतकण एकाग्र होने पर ही प्रमाण से ज्ञान होगा अंतकरण यदि एकाग्र ही शुद्ध नहीं है महावाक्य रट कर सुन लिया बोल दिया समझ लिया लक्षण आदि दो चार दिन में समझ लिया इतने मात्र से ज्ञान होता है नहीं ऐसे सूक्ष्म शुद्ध अंतकण हो तो सहकृतात् महावाक्यात योगाभ्यास बहुत करने के बाद एकाग्र हो गया समाधि को निर्विकल समाधि को प्राप्त कर ले तभी सद्गुरु के उपदेश से महावाक्य को उपदेश से ही ज्ञान होगा महावाक्याद अहम ब्रह्मास्मीति या बुद्धिवृत्ति उत्पद्यते बुद्धिवृत्ति बुद्धि का परिणाम बुद्धिवृत्ति घट को देखने से घटाकार वृत्ति होती है पट को देखें तो पटाकार वृत्ति होती है अंतकण का परिणाम बाहर अंतकण इंद्र के द्वारा जा करके वो देश में व्याप्त हो जाती है वो परिणाम को घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति कहते हैं और जहाँ बाहर नहीं जाए धूम को देखकर पर्वत तो वाला निश्चय हो गया वहां भी वन्याकार वृत्ति होती है वहां बाहर जाने की आवश्यकता नहीं केवल पर्वत को धूमक देखने के लिए बाहर जाती है किंतु वन्य निश्चय जो वृत्ति है वो अंदर अंतकणे वन्याकार वृत्ति होती है धूम अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है इसी प्रकार शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्म विशेष स्वयं अपना स्वरूप है बाहर जाने की आवश्यकता नहीं अंतकण में परिणाम वृत्ति है वो वृत्ति बुद्धि वृत्ति होती है बुद्धि जड़ है बुद्धि वृत्ति भी जड़ है तो भी इसको ज्ञान कहते घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति को घट ज्ञान पट ज्ञान कहते घटाकार परिणाम अंतकरण परिणाम हुआ और तो वृत्ति है जड़ है किंतु बुद्धि सूक्ष्म है स्वच्छ है सत्व गुण का कार्य है उसमें चेतन रूप बिंब का प्रतिबिंब होता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म जो ज्ञान रूप है उसका प्रतिबिंब होता है बुद्धि में वृत्ति में भी उसको कहते चिदाभास चिदवता आभासते तो चिदाभास चेतन जैसे लगता है वो वृत्ति में जो चेतन का प्रतिबिंब हुआ उस प्रतिबिंब के संबंध से बुद्धि को ज्ञान कह देते गौण प्रयोग जल स्वयं दूसरे को प्रकाश नहीं करता है किंतु जल में सूर्य किरण होता है चकमक होकर के प्रतिबिंब हो जाता है घड़ा में मिट्टी के घड़ा है उसमें प्रतिबिंब नहीं होता है उसके ऊपर रंग लगा दिया सुंदर रंग लगा दिया तो उसमें से चिकना हो गया तो प्रतिम्ब हो जाता है पत्थर में प्रतिबिंब नहीं होता है घिस करके चिकना कर दिया लकड़ी में प्रतिबिंब दिखता है इसी प्रकार अंतकण घड़ा जड़ है उसमें अंतकण जाकर चारों तरफ घेर लिया स्वच्छ अंतकण उसमें चेतन का प्रतिबिंब दिखता है चेतन जैसे लगता है चेतन नहीं है दर्पण में आपके मुख का प्रतिबिंब दिखता है मुख नहीं है मुख जैसे दिखता है मुखाभास इसी प्रकार चेतन जैसे दिखता है तो उसको कहते चिदाभास या बुद्धिवृत्ति उत्पद्यते तस्याम अभिव्यक्तो जिस प्रकार घटाकार वृत्ति में चेतन की अभिव्यक्ति हुई चेतन का प्रतिम्ब इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म ऐसा निश्चय उसमें चेतन का प्रतिम्ब होता है बुद्धि वृत्ति तस्याम अभिव्यक्त ब्रह्म भाव प्रतिबिंब होता है तो वहाँ वृत्ति में चेतन की अभिव्यक्ति कहते हैं चैतन्य का प्रतिबिंब होता है अर्थात अभिव्यक्ति होती है ब्रह्म है सर्वत्र जिस प्रकार घड़ा में आकाश है आकाश है पानी खाली है तो आकाश रहेगा पानी भर देंगे तो आकाश बाहर निकल जाएगा पानी भरने पर भी आकाश रहता है किंतु वो आकाश दिखता नहीं खाली कर भी नहीं दिखता भरने पर नहीं दिखता किंतु आकाश का प्रतिबिंब दिखता है तो वहां आकाश की अभिव्यक्ति होती वो प्रतिबिंब का आकाश कहता है बच्चा वास्तव आकाश होने पर ही उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है इस प्रकार चेतन सर्वत्र समान रूप से जड़ चेतन समय समान शुद्ध चेतन समान रूप से दिखते नहीं दिवाले में अग्नि है क्या अग्नि है गर्म लगता है देखो स्पर्श करो अब वहां पर टोको कील टोको अग्नि निकलती है अग्नि नहीं तो काश लिए खाली टोकने से कैसे होगा अग्नि है किंतु दिखती नहीं है ऐसे अभिव्यक्ति होती है लकड़ी में अग्नि है घिसने पर प्रकट होती है इसी प्रकार चेतन सर्वव्यापक सर्वत्र है ऐसे तदाकार वृत्ति में उसकी अभिव्यक्ति होती प्रकट हो जाता है तस्याम अभिव्यक्त ब्रह्म भाव इसी वृद्धि वृद्धि वृत्ति में बुद्धि की वृत्ति में ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है यदि स्वत्व अपरचतया व्यवहार्यते सत अपरोक्ष उसको कहते अपरोक्ष अपरोक्ष क्या वृत्ति में चेतना का प्रतिबिंब होने से वो आवरण को नष्ट कर देते वृत्ति चिदाभास विशिष्ट वृत्ति ज्ञान जैसे लगता है उसे आवरण की निवृत्ति हो जाती है आवरण की निवृत्ति होने पर ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है उसको देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं देखने का नहीं स्वयं प्रकाशमान है इसे सत्व अपरुचतया व्यवहार्यते कहा जाता है अपरोक्षर स्वयं प्रकाश ब्रह्म यदि दृश्यतम उपचर्यते दृश्य नहीं है दृश्यत्व का उपचार गौण प्रयोग दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया जो आवरण नष्ट हो गया तो दिखता है कहते हैं दिखता नहीं स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश अपरोक्षतन कहा जाता है वहां दृश्यत्व का गौण प्रयोग होता है क्योंकि यो ही यत् प्रयुक्त व्यवहार सतदृश्य इति प्रसिद्धम यत् प्रयुक्त व्यवहार सतदृश्य जो घट होता है दृश्य चक्षु से उसका देखने पर व्यवहार होता है तो चक्षु से दृश्य हो गया व्यवहार हुआ इंद्रिय से व्यवहार होता है आगे तो उसका दृश्य हुआ घट दृश्य होता है जिसके कारण उसका व्यवहार होता है उससे दृश्य चैत्र घट को लेता है उठाता है तो चैत्र घट को देखता है इसी प्रकार अंतकण होने के बाद अविद्या आवरण नष्ट होने से अहम ब्रह्म ऐसे शब्द प्रयोग होता है इसलिए वृत्ति से उसका दृश्य इसे कहते हैं बुद्धि से दृश्य कह देते हैं बुद्धि के कारण उसका व्यवहार होता है अवर नष्ट हो गया तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म इसलिए दृश्य शब्द से कहते हैं गौण प्रयोग है भाष्य में हो गया दर्शी पंडित तब तो है जहाँ कहा गया न दृश्यते अप्रमेय वो अं- कण असंस्कृत बुद्धि वाले के लिए अज्ञे अप्रमेय है और एक वृत्ति का विषय होने से उसमें वृत्ति की व्याप्ति है वृत्ति व्याप्ति कहते हैं वृत्ति का संबंध होता है घट के साथ वृत्ति व्याप्ति जिस प्रकार घट में ऐसे ब्रह्म विषय में भी वृत्ति का संबंध है वृत्ति विषय है ब्रह्म वृत्ति व्याप्ति है उसे अज्ञान आवरण नष्ट हो जाने पर घट में आवरण है नष्ट हो गया ज्ञान घटाकार वृत्ति से नष्ट होने के बाद घट जड़ है उसको प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जिसको कहते फल वो फल का संबंध है वृत्ति का संबंध हो गया तो उसके साथ वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य का भी संबंध घट के साथ हो गया अब फल की भी व्याप्ति है घट में वृत्ति की भी व्याप्ति है अब वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य क्या कहते हैं फल फल की व्याप्ति घट में है घट में वृत्ति की व्याप्ति या फल की व्याप्ति दोनों है वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों है वृत्ति से आवरण नष्ट हो जाता है और फल उसको प्रकाश करता है बुद्धि तत्व चिदाभासो द्वावेतो व्यापनतो घटम तत्र ज्ञानम ध्यानस्य दाभासेन घटस्फुरेत बुद्धि और चिदाभास दोनों घट देश में जाते हैं तो वृत्ति के संबंध से बुद्धि के द्वारा दिया तत् अज्ञानम नश्यति अज्ञान का नाश होता है बुद्धि के द्वारा चिदाभास के संबंध से जड़ बुद्धि भी चेतन ज्ञान जिस लगती है उसके द्वारा आवरण नष्ट हुआ तत्र ज्ञानम ध्यान से घट का स्पुरण होता है आभासे न घटाकर वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा घट का प्रकाश होता है भान होता है इसलिए घट में वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों है किंतु ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म विषय का अज्ञान जो नष्ट हो जाता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाश करने के लिए फल की आवश्यकता नहीं है आवरण निवृत्त हो जाने से स्वयं प्रकाश ब्रह्म है जैसे घट को देखने के लिए रात को अंधकार में प्रकाश की आवश्यकता है किंतु दीप प्रज्वलित दीप को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म है स्वयं प्रकाश वो केवल आवरण निवृत्ति के लिए प्रमाण महावाक्य आवरण निवृत्त हो गया तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है वहाँ फल व्याप्ति नहीं ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा जरूर किंतु वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय घट में होता है इसलिए घट में फल व्याप्ति है ब्रह्म में नहीं होता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश दूसरे को हम दिखाने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है सूर्य को देखने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं दीप जलाएंगे तो रात में सब प्रकाश करेगा सूर्योदय होने के बाद भी दीप रहता है वो दीप सूर्य को प्रकाश करता है प्रकाश रहने पर भी नहीं करता इसी प्रकार जिस प्रकार घटाकार वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब हुआ फल उससे घट में अतिशय हुआ घट का प्रकाश हुआ इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं यह जो ब्रह्माकार वृत्ति है उसे भी चेतन का प्रतिबिंब होगा फल किंतु तजन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं होता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने स्वयं प्रकाश ब्रह्म को उसका प्रतिबिंब कहां प्रकाश करेगा प्रतिबिंब तो बुद्धि में थोड़ी सी है इसलिए प्रतिबिंब उसको प्रकाश नहीं कर पाता है ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति व्याप्ति होने से दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या मनसेवानु द्रष्टव्यम यह कहा गया यत्त प्रवक्ष्यामि इसमें वृत्ति व्याप्ति का समर्थन क्या अप्रमेय अभांग मन सगोचर जहाँ-जहाँ ज्ञेय नहीं है निषेध करते न प्रकाशते वहाँ फल व्याप्ति का निषेध करते फल व्याप्ति नहीं है इसे दोनों व्यवहार होता है अप्रमेय भी कहते हैं न प्रकाशते भी कहते और ज्ञान से मुख्य भी कहते मन से अनुदर्शन भी कहते जहाँ ज्ञान मन से बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रिय बुद्धि ग्राह्य कहते मन से अनुदर्शव्यम अग्रया बुद्ध्या दृश्यते सर्वत्र किसका समर्थन करते हैं वृत्ति व्याप्ति का समर्थन और फल व्याप्ति का निषेध करते हैं जहां अप्रमेय न प्रकाशते अवाहमन से गुजर करते यन मनसा न मनते फल व्याप्ति नहीं है तो सूक्ष्म बुद्धि से संस्कृत बुद्धि से शुद्ध बुद्धि से ज्ञान होता है यच्छेदवांग मनसि प्राज्ञस्तद यच्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महते नियचे तद यचे चांत आत्मनि यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ प्राज्ञ मनसि वांग यच्छेद प्राज्ञ विवेकी मन में वाग इंद्रिय को नियमन करे उपसार कर इंद्रिय व्यापार छोड़ करके मन में मन व्यापार होगा इंद्रिय व्यापार छोड़ करके तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि और तद मुनि मन को नियमन करे ज्ञान रूप आत्मा में ज्ञान रूप आत्मा बुद्धि रूप में ज्ञानम आत्मनि महते और बुद्धि को ही महत्त्व में हिरण्यगर्भ में नियमन करे तो यचे शांत आत्मनि उसको नियमन करे शांत आत्मा में यच्छेत कहते नियच्छेत नियमन करे उपसंहरेत नियमन करने का तो उपसंहार करे इंद्र के विषय ग्रहण छोड़ करके वो मन में ही नियमन करे प्राज्ञ विवेकी है किम वाग वाग है जो वाचम द्वितीय अंत करना केवल वाणी को नियमन कर देना मौन रह दिया मुख बंद कर दिया बाकी सब व्यापार करेगा मुख बंद हो गया इतने मात्र से नहीं होता है वाग तुर उपलक्षणार्था वाग अच्छेत जो कहा है या उपलक्षण तद ग्राहक हेतु तद तदितर ग्राहकतम सर्वेषाम इंद्रियाणाम सारे भी इंद्रिय का उपलक्षण है भाग है इसलिए केवल मुख को बंद कर दिया गम करके बोलते रहे दूसरे को परेशानी इतने से कुछ नहीं होता है वो कोई मुख को खाली बंद कर देने से होता है हाँ यदि बहुत बोलने का अभ्यास है कभी कभी मुख मौन रहे किंतु नियम करके हम सारा जीवन नहीं बोलते या दस साल बारह साल नहीं बोलेंगे तो ज्ञान हो जाएगा बारह साल मौन रह जाएगा तो परमात्मा का आकर दौड़ का करके सामने खड़ा होना पड़ेगा ना ऐसे ही कोई नियम करके परमात्मा को अपने बना दे के अधीन बना दिया ऐसा नहीं हो सकता है मन से यदि सोचना नहीं होता है वास्तव मौन होता है और वाणी मुख को बंद कर दिया और सब व्यवहार किया सब व्यवहार करना इधर उधर भटकना डांटना भटकना भंडारा सब करना खाली मुख मौन रख दिया ये कुछ नहीं अज्ञान से बहुत लोग करते हैं एक मौन रख दिया तो बड़ा अच्छा बाल लंबा जटा रख दिया तो बड़े विरत हो गया उसको सजाने के लिए बहुत करना पड़ता है ये क्या वैराग्य है उसको दिखाने के लिए लंबे लंबे बड़ा बड़ा बाल हो गया तो बड़ा विरत हो जाएगा ऐसा नहीं वेश बनाना अपने को सजाते हैं सजा करके बाल को बना करके कटिंग करके मूछ काट करके दाढ़ी रखें मूछ कटिंग करेंगे नहीं तो इसको कटिंग करेंगे ये वैराग्य का चिन्ह है बाल को बना के कटिंग करके दिखाएंगे ये कहाँ वैराग्य है ये साधु संन्यास का विरोध है ये सब संन्यास में तो ये गेरू लगाते हैं ये चमक को हटाना है चमक करने के लिए जी नहीं है सारे रूप ऐसे करके शरीर रहना है बाल काट दिया फिर बढ़ गया बढ़ गया फिर काट दिया उसको सजा कर क्या दिखाना है इसी प्रकार जटा बना दिया और जटा को तो साफ नहीं करते दुर्गंध कीड़े पड़े और बाल को सफाई करते रहो तो उसमें लगा ये क्या है वैराग्य उससे नहीं होता है और मौन कर देने से तो नहीं सारे व्यवहार को कम करना है अन्य सब व्यवहार बहुत करना है और एक बार दो चार महीना में बाल बना दिया तो क्या बिगड़ा जब बड़े-बड़े रह जाता है ना उसमें इतने ममता हो जाती है अब बस दर्पण कर देखते बड़े खुश लगता है बड़े सुंदर हम दिखते हैं उसको काट नहीं पाएंगे काटने में बड़ा कष्ट होता है किसी किसी का बाल इतने बड़ा होता है उसको तो अन्य लोग देखने पर बड़ा घृणा कोई छूने के लिए इच्छा नहीं हो दुर्गंध होता है किंतु वो बड़े अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है अपने को बहुत अच्छा मानता है ये जो स्वर है ना कैसे मिट्टी में कीचड़ में लटपट रहते हैं वो देखने पर दुर्गंध होता है किंतु उनको भी अच्छा लगता है उसमें लटपटे होकर वो खुश होते हैं लंबे लंबे बाल रखते थे काटने के लिए कहेंगे तो बड़ा कठिन है छोड़कर चले जाएंगे बाल नहीं काटेंगे जैसे बाल काट देंगे तो और नहीं मिलेगा <laughs> ये काटने पर तो फिर आ जाता है काटते काटते थक जाते हैं इतने क्यों ये अच्छेद भांग जो कहा गया नियमन करना खाली मुख बंद कर देने मात्र से नहीं सब इंद्र का उपलक्षण है इंद्र के व्यापार को समाप्त करे सब इंद्र के व्यापार समाप्त करना ये मुख्य है क्व मनसी मनसी मन शब्द का सप्तम अंत बनेगा मनसी दीर्घ ह्रस्व है किंतु मनसी इति छांदसम दैर्घ्यम दीर्घ हो गया छांद वैदिक प्रयोग और मन में नियमन करने का था अन्य इंद्रिय व्यापार छोड़ करके इंद्रिय व्यापार छोड़ कर मन से ही चिंतन करते रहे सब विषय आके मनो यच्छेद ज्ञाने प्रकाश रूपे बुद्धो आत्मने मन को भी नियम करने प्रकाश रूप बुद्धि में उसको ज्ञान कह दिया बुद्धि में आत्म बुद्धो आत्मा ने बुद्धि रूप आत्मा में आत्मा कोई बुद्धि को ज्ञान मानते हैं आत्मा मानते हैं बुद्धि मनादि करणानि आपनोति आत्मा प्रत्येक देशा आत्मा व्याप्त होने से आत्मा है मनादि करणानि आपनोति मनादि करण को व्याप्त होती है बुद्धि नियमन करने वाले इसलिए आत्मा प्रत्येक आत्मा तेषां मनादि करण का आत्मा शब्द से कहा ज्ञानम बुद्धिम आत्मनि महति प्रथम जिने चेत और तद ज्ञानम आत्मनि महति ज्ञान का तो बुद्धि को आत्मानि महति प्रथम हिरण्य गर्भ में नियमन कर समष्टि बुद्धि में प्रथम जबत स्वच्छ स्वभावकम आत्मन विज्ञानम आपादित इत्यर्थ उसको हिरण्य गर्भ में नियमन करने का क्या अर्थ है प्रथम जो हिरण्य गर्भ जैसे उसकी बुद्धि स्वच्छ है ऐसे स्वच्छ स्वभावकम अपना विज्ञान ऐसे करे ज्ञान स्वच्छ स्वभाव हो विषय ग्रहण नहीं करके रहे तंच महांतम आत्मानम यचेत शांत आत्मनि महतत्व बुद्धि हे महान बुद्धि को शांत आत्मा में शांत सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे अभिक्रिय सर्वांतरे सर्वबुद्धि प्रत्येक साक्षिणी मुख्य आत्मनि अंत में जो सब बुद्धि है पहले बुद्धि में विषय चिंतन होता रहता है मन से विषय चिंतन होता है विषय चिंतन छोड़ करके पहले इंद्रिय से विषय ग्रहण होता है विषय ग्रहण छोड़ कर रहे फिर मन में विषय चिंतन होता है उसको भी बुद्धि से नियमन करे लक्ष्य में लगाए विषय चिंतन छोड़ करके फिर बुद्धि के द्वारा बुद्धि को स्वच्छ करे बुद्धि में विषय चिंतन आ जाता है स्वच्छ करके समष्टि बुद्धि हिरण्यगर बुद्धि के अनुसार बुद्धि के समान स्वच्छ करे समष्टि बुद्धि में व्यष्टि बुद्धि देह में हम बुद्धि छोड़ करके दे समष्टि रूप से नियमन करे और ध्यान करने पर होता है धीरे-धीरे बुद्धि का विषय छोड़ करके ये अनात्म चिंतन छोड़ करके शांत फिर उसको शांत नहीं शांत आत्मा में शुद्ध चेतन में नियमन करना क्या उसमें लगाना एक शुद्ध चेतन दीर्घ रूप चेतन इदम शरीरम कौंते क्षेत्र कह करके इस शरीर को जानने वाला क्षेत्र क्या भगवान कहते गीता में एक दीर्घ रूप चेतन है वह एक अद्वितीय तत्व है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि भगवान के सारे शरीर में एक ही क्षेत्रज्ञ चेतन आत्मा है नान्य अतोसि दृष्टा श्रोता मनता एक परमात्मा से अन्य दृष्टा श्रोता मन्ता है ही नहीं जो दृष्टा श्रोता रूप से अलग-अलग दिखते हैं एक ही आत्मा है सबका सर्व एक है अद्वितीय है एक तत्व है अहम अस्मि बिंब रूप चेतन प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है प्रतिबिंब का आपका जो प्रतिबिंब दिखता है दर्पण में वो आपका स्वरूप नहीं है आपका स्वरूप बिंब रूप है जिस प्रकार बिंब में हूँ प्रतिबिंब नहीं हूँ इसी प्रकार सब के शरीर में जो चिदाभास दिखता है प्रतिबिंब है मैं नहीं मैं बिंब रूप चेतन हूं अनेक चिदाभास अनेक प्रतिबिंबों का बिंब रूप एक चेतन है एक अद्वितीय ब्रह्म चेतन वो हम अस्मि ये करके उसने नियमन करने का तो बुद्धि को उसमें लगा दिया बुद्धि का स्वभाव है बाहर विषय चिंतन करती है वो बाह्य विषय चिंतन छोड़ करके आत्मस्वरूप में स्थिर करना वही आत्मस्वरूप का चिंतन बार-बार कर उसका नियमन करने पर तब महावाक्य प्रमाण है पहले अंतकोण शुद्ध हो गया मन आदि ध्यान करते करते विषय चिंतन छोड़ करके संस्कृत बुद्धि होने पर फिर वेदांत प्रमाण से तत्व दे महावाक्य सुन करके अहम अस्मि ब्रह्म बुद्धि को उसने लगाना निरंतर तदाकार वृत्ति प्रवाह करना ऐसे करते करते ब्रह्माकार वृत्ति जब वृत्ति धीरे-धीरे धीरे-धीरे विपरीत भावना की निवृत्ति होती है देहाद में अहम बुद्धि इतने दृढ़ बैठी है ब्रह्माकार वृत्ति करते समय थोड़े तो हम लग जाते मैं नित्य मुक्त व्यापक आत्मा फिर दूसरे क्षण में देह में अहम हो जाती है बहुत प्रयास करके चिंतन करता अद्वितीय ब्रह्म में हूँ तुरंत देह में अहम देह में अहम के लिए थोड़े सोचना ही नहीं पड़ता है बहुत जल्दी है उसको नष्ट करने के लिए देह में नहीं हूँ देहादि से भिन्न हूँ बार-बार विचार करके वृत्ति प्रवाह करें तब वो ये करने पर तमहांतम आत्मानम यस्य शांते शांत आत्मा सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूप अभिक्रिय जिसमें कोई विशेष नहीं सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम सर्व विशेष अभाव विशेष जिसमें है नहीं निर्विशेष विशेष तो अज्ञान से माया से है कोई विशेष वास्तव नहीं है शुद्ध चिन्ह मात्र अभिक्रिय अभिक्रिय विक्रिया रहित कोई क्रिया नहीं है निष्क्रिय आत्म तत्व जो कि सर्वांतरे सर्वांतर सब के अंदर है सब के अंतरतर वो सब के अंदर होकर क्या करता है सर्व बुद्धि प्रत्यय साक्षिणी बुद्धि के प्रत्यय का साक्षी है बुद्धि में प्रत्यय होता है ज्ञान वृत्ति बुद्धि में जितने वृत्ति है सब को साक्षी जानने वाला आप देखो आपके मन में आपके मन को आप जानते हो मन इधर चला गया उधर चला गया बुद्धि से कुछ निर्णय होता है तो आप जानते हो मैं निर्णय किया बुद्धि के निर्णय किया मेरी बुद्धि ऐसे है बुद्धि को आप देखते हो बुद्धि में वृत्ति होती है बुद्धि में जो धर्म है उसको आप जानते हो बुद्धि को भी जानते हो बुद्धि को जानने वाला ही एक तत्व है प्रत्येक आत्मा और एक ही तत्व सारे बुद्धि का साक्षी जिसको भगवान ने कहा क्षेत्र के चाप में वेदे सर्व क्षेत्र से सब को जानने वाला जो दृग रूप चेतन एक है वो सारे सर्व में एक ही एक क्षेत्रज्ञ सारे बुद्धि का साक्षी है सर्व बुद्धि प्रत्यय साक्षिणी बुद्धि में प्रत्यय वृत्ति उसको साक्षी प्रकाश करने वाले जो बुद्धि का साक्षी है वही स्वप्न का साक्षी दृष्टा है वही सुश्रुति का साक्षी है सुख दुख को जानने वाला साक्षी चेतन दृग रूप चेतन वही मुख्य आत्मा है देहादि में से आत्म शब्द प्रयोग कर देते हैं मुख्य आत्मा तो शुद्ध चेतन है मुख्य आत्मा मुख्य आत्मा ने नियमन करे ऐसे करके अंत में आत्मस्वस्थ मन कृत्वा मन को उसमें ला करके न किंचित अभी तद आकार वृत्ति का प्रवाह करना ऐसे अज्ञान की आवृत्ति आवरण नष्ट हो जाता है तो नष्ट होते ही स्वयं अपने को मुक्त जीवन मुक्त अनुभव करता है और देखता है आत्मा में बंधन तीनों काल में यही नहीं बंधन रज्जु में सर्प देखकर डरता है रज्जु को देखने के बाद सर्प है ही नहीं नहीं था अभी भी नहीं आगे भी नहीं होगा ऐसे निश्चय हो जाता है इसी प्रकार आत्मा नित्य शुद्ध है कभी भी उसमें कुछ है ही नहीं अविद्या का कार्य अविद्या का संबंध है ही नहीं अविद्या भी आरोपित है अध्यस्त वस्तु का संबंध अधिष्ठान में नहीं होता है प्रतिपत्ति उपाय महा उसको ज्ञान करने के उपाय कहते ठीक है मैं क्रमेण एवं विषय दर्श दर्शनेन अभ्यासेन च करण अंतकरण व्यापार प्रविलापने सति प्रविलापनम कर्तु प्रविलापन करते एक पद है अनुसार नीचे प्रविलापन कर्तु कह पुरुषार्थ सिद्ध्यति इत्यतः क्रमेण इस प्रकार अभ्यास करना पड़ता है मन इंद्रियों को नियमन करना इंद्रियों को नियमन इतने सा एक साथ नहीं होता बोल देना तो एक शब्द से आ गया दे वांग मनसी वांग उपलक्षण सब इंद्रियों को नियमन कर दे ये तो हो जाता है बोलना सुनना किंतु करने के लिए क्रमेण क्रम से होता है धीरे-धीरे इंद्रियों को बाहर जाते हैं जितने आवश्यक है जो निषिद्ध नहीं हो जितने इंद्रिय विषय ग्रहण करना बाकी इंद्रिय का नियमन शब्द प्रयोग को तृष्णा तो व्यर्थ शब्द प्रयोग नहीं करे और इसी प्रकार सब इंद्रिय व्यर्थ इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं करे रोके ऐसा अभ्यास करने पर धीरे-धीरे इंद्रिय को जीतना होता है तब मन से चिंतन होगा और इसमें सहायक है विषय दोष दर्शन विषय में संकल्प शोभन अध्यास होता है ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा हमारा इष्ट है मुझे मिल जाए इष्ट इष्ट मानने पर फिर इच्छा होती है दोष उसमें है इच्छा अधिक होने पर दोष दिखता नहीं दोष दिखने लगने पर फिर अच्छा नहीं लगे अच्छा तो लगता है जो दोष नहीं देखते गुण आरोप करके बहुत अच्छा बहुत अच्छा यदि विचार कर देखे उसके अंदर क्या है क्या चीज है उसे क्या हमको लाभ हानि है ये विचार करेंगे तो फिर दोष ही दोष है विषय में दोष दर्शन करना यही है इंद्रियों को उपराम इंद्र का उपराम के लिए दोष दर्शन तो बड़ा है विषय मिथ्या है पहले स्वप्न दृश्य के समान अनित्य है और सातिशय है और विषय ग्रहण करके कोई तृप्त नहीं हो सकता है विषय ग्रहण कर तृप्त होता तो सुश्रुति में कोई नहीं जाता गाढ़ निद्रा सब जाते हैं बड़े सम्राट भी हो विषय सब प्राप्त है जितने भी विषय हो भोग विषय बहुत प्राप्त है छोड़कर पीछे जाना पड़ता है विषय के बिना जो आनंद सुश्रुति में प्राप्त होता है वो आनंद की प्राप्ति विषय से नहीं होती है इसलिए विषय ग्रहण से तृप्त कोई नहीं होता है ऐसे विचार करके विषय दोष दर्शन है ना और अभ्यास है न च अभ्यास भी करना पड़ता है बार-बार तत्र स्थितो यत्न अभ्यास स्थिति के लिए यत्न करना पड़े बार बार-बार इंद्र को हटा करके मन को हटा करके लक्ष्य में लगाना बाह्य कर्ण अंतकरण व्यापार प्रविलापन सति भाय भाग इंद्रादि चक्रादि इंद्रियों का करण अंतकण मन बुद्धि उनका व्यापार को लय कर देना समाप्त करना व्यापार समाप्त करने पर फिर प्रविलापन करने वाला जो स्वयं करेगा साधक उसको क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा क पुरुषार्थ सिद्धते अतः उसके आगे बताएंगे इससे क्या लाभ होता है क्या पुरुषार्थ सिद्ध होता है ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु